ज्ञान निधान अमान गुणज्ञाननिधान अमानयजं नमामि विभुं विरजम् भुजदण्ड प्रचण्ड खलवृन्दनिकन्द महाकुशलम् विनुकारण दयालहितम् छविधाम नमामि सहित भवतारण कारण दोष हरम हे गुण और ज्ञान के भंडार हे मान रहित हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं हे बिना ही कारण दिनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ आप भवसागर से तारने वाले हैं कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं सरचाप मनोहर त्रोण धरम जल चारुण लोचन बरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम मदमार मुदा ममता समलम अनवद्य खंडन गोचर गो सब रूप सदा सब हो न गो इत वेद इति वेदवदन्तिन दन्तकथां भिन्नम भिन्न जथा आप मनोहर बाण धनुष और तर्कस धारण करने वाले हैं लाल कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं आप राजाओं में श्रेष्ठ सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं आप अनिंद्य या दोष रहित हैं अखंड हैं इंद्रियों के विषय नहीं हैं सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं ऐसा वेद कहते हैं यह कोई दंत कथा कोई कल्पना नहीं है जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं कृत कृत विभो सब बानर ये निरखंति तवानन सादर ये धिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूलि परे अब दीन दयाल दया करिए मति मोर विभेद करी हरिय जहिते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मान सुखी चरिए हे व्यापक प्रभु ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदरपूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं और हे हरे हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं हे दीन दयालु अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ खल खंडन मंडन रम्य छदाम खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा निपनायक ते वरदान मेदम चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है हे राजाओं के महाराज मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो विनय किन्ह चतुरानन प्रेम पुलक यति गात शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे